शंकराचार्य का उनका कोई पुत्र है एक आचार्य का वो किसी के यहाँ शिक्षा लेने जाता है अध्यात्म विद्या की तो उन्होंने कहा कि विद्या का तुम्हें बहुत बात बताने की हो तुम क्या करो अभी हो जाओगे त्याग की शिक्षा दी क्या बिना त्याग किए कोई बच्चे मित्र नहीं हो सकता है अच्छा क्या करें उसके पास जो कुछ भी था विषय उसने त्याग दिया जो कुछ पैसा रखता था सब त्याग दिया कपिल को सब त्याग दिया आकर के आकार के पास खड़ा हुआ क्या न सब त्याग दिया तो क्या क्या त्याग दिया विषय सब गिना दिया घर त्याग दिया परिवार त्याग दिया घर संपत्ति त्याग दी सब त्याग दिया नहीं सब तुमने अब नहीं त्याग उसने सोचा क्या क्या त्याग करने के लिए तो विचार करने में उसे लगा कि आप सही नहीं गया त्याग करते तो उसने चिता जलाई है तो संघर्ष करके शरीर जलाने लगा तो आचार्य ने कहा कि देखो कि शरीर के जलाने से तुम्हारा त्याग पूरा नहीं होगा शरीर को सर्वग्रस्त त्याग नहीं होगा शरीर में जो तुम्हारे बुद्धि से निमित्त भाव है कि ये शरीर मेरा है या शरीर में हूँ इस बुद्धि का त्याग करो ही कथा एक वाशिष्ठ ने फिर वहां पर बड़े विस्तार से बताई थी तो उसने वो भी त्याग कर दिया शरीर में देहा मूर्ति चाहिए उसने कभी नहीं करते कहा कि आप कभी जो त्याग किया उस त्याग का त्याग करो तुम्हारी बुद्धि में तो क्या भी है बुद्धि में तो हम भाव रखते जो मेरी बुद्धि है और बुद्धि से ही तो तुमने त्याग कर दिया है और बुद्धि की जो बुद्धियों का त्याग तो कोई नहीं तुमने अभी बुद्धि के ज्ञान का त्याग तो कोई नहीं अब इस प्रकार है कहा कहाँ क्या करें मैंने जो व्यक्ति के पास जो कुछ भी है सबका क्या कर दे सबका क्या कर दे मैंने शुद्ध चेतना आत्मा ही मात्र रह जाए निर्विकार मेरे प्रथम देख रहे साधना और अनात्मा रूपी जो कुछ भी है वो सब छूट जाए मन बुद्धि क्या जितने भी भावनाएं हैं सत्रह है बुद्धि है मन है इंद्रिया है प्राण है शरीर आदि है इन सब का क्या और ये समस्त त्याग ज्ञानात्मक त्याग अज्ञान के कारण में सबको पकड़े हुए हैं मेरे मेरे हैं अज्ञान के कारण पता है ये कहते हैं जो देखो इस प्रकार से व्यक्ति का जो बंधन है वो बस ऐसे ही बंधन है वो लेकर के अपने कारण शरीर को लेकर के छू शरीर तक अहम भाव और मन भाव बस ये लिए हुए उपयोग ज्ञान के मनुष्य में मिला करके देखो कि जीव का जीव की समस्या से क्या है ये माया का बंधन का सो तो माया बस बची दिखाई है तो आनंद पाने में देखते हैं कि भगवान राम ने बताया कि मैं और मेरे को माया जिनको सती में जीव नित आया समस्त जीव जो किसी बात को मेरा और तेरा तो मेरा तो मैंने कहा जो अनात्मा जो मैं नहीं हूँ उसी में अटैचमेंट किसी को पकड़े बैठे हुए बकरी बनने में मैं हूँ शरीर में नहीं हूँ लेकिन शरीर को ही मैं धो लिया चले गए मन बुद्धि में नहीं उसी को मैं बोले चले गए तो बस यही उसका जो है ये माया है और यही माया का बंधन है नाव से बंधन कोई रस्सी थोड़ा है जो किसी दूसरे व्यक्ति ने किसी डाकू आवे किसी को बांध में ऐसे थोड़ी किसी ने नाव ने किसी को बांध रखा जीवन ज्ञान के कारण स्वयं अपने आप में और मेरा सम्मान करके बांधे हुए अपने आप को वही बात यहाँ बता दी सो माया तो गुसाई मंदिर की तुलसी नरपति ना जय चेतन इंद्रम की पड़ी गई जगह विषा छूटक पत्र नहीं आपका देश में जितना बात आई है कि जड़ चेतन की जंग पड़ गई अब जैसे का होने के माने क्या है जैसा लोग आएंगे बताए कि बरकत इत्यादि तो को जितना विवेचन हुआ उसी से देख लो हुआ क्या कि यद्य आत्मा कितना स्वरूप है लेकिन शरीर जड़ प्राण जड़ मन बुद्धि जड़ प्रार्थनाएं जड़ इन सब जड़ के साथ में हम चेतना स्वरूप होकर के इनके साथ में तादात्म कर लिया ये ये ये में हूँ ये स्वभाव में हूँ प्रकृति में हूँ बुद्धि में हूँ मन में हूँ ये जो तादात्म इनके साथ जड़ पदार्थों के साथ चेतन का हो गया यही कहते हैं कि जड़ चेतन ही जल से पड़ गई जड़ चेतन की जांच करो शरीर है जड़ और हम हैं चेतन लेकिन फिर भी हम समझते हैं कि शरीर ही नहीं अरे अगर हम चेतन है तो शरीर कैसे हो सकते अगर हम कहें तो नहीं हम तो तो शरीर है अगर हम शरीर हो तो हमें चेतन का भान कैसे हो सकता है शरीर की जड़ जो जैसे पत्थर को अपना पत्थर को नहीं पता उसका अपना तो पत्थर ऐसे हमको भी अगर मैं शरीर हूँ तो मुझे पता नहीं चलना चाहिए कि मैं शरीर हूँ मुझे पता ही पता ही चलता मुझे नहीं लेकिन जब मुझे लगता है कि मैं जानता हूँ कितने मुझे लगते हैं उसको नहीं क्या मैंने जरूर कहीं ध्यान के कहीं गड़बड़ी जरूर कही है वो यही है कि एक चेतन है दूसरी तरफ जड़ है और जड़ चेतन में जड़ के लक्षण चेतना में आ गए चेतना के लक्षण जड़ में आ गए उसमें कहीं जांच कर लो तो जड़ चेतन की पड़ गई और गांठ भी पड़ी तो दुगनी जांच करेगी इतनी बात को एक बात करो व्यक्ति सौतर लगेगा तो एक बार तो कोई तो बात करेंगे ऐसी व्यक्ति तो खुल जाएगी लेकिन जब एक बात लगाने के बाद दूसरा सलाह लेकर के एक बार फिर मान लो अब फिर ठीक है आप जांच लेंगे हम नहीं खुलेंगे ऐसे करके ये भी जांच में लगी ये हो विविध जांच विविध जांच एक तो जीव भाव की जांच और दूसरे के शरीर भाव की जांच आप तो समझ लिया जीव है और फिर अपने आप को जीव जीव भूल गए हमने समझ लिया हमको शरीर ये दो दो बात है इसके बाद एक लगते दोनों तो जब तक ये बात छूटी नहीं तब तक जो वो हो जीव छूटता नहीं जय चेतन गंध गई जगत नशा तो तक नहीं जगत नशा अभी आपको कोई सच्ची बात छोड़ो कि जिस रस्सी की गांठ लेकर के जो दीपिका मेरा जैसे विकास नहीं चाहते यहाँ ये बात हो जाती जैसे कीट मरकज की नहीं जैसे टोटे ने पहली पकड़ ली तो इसका पकड़ना बंधन कोई बात नहीं छोड़ो तो और जान के कारण मान दो उसको ऐसी तरह के बंधन भी अगर सराई में डाल कर कितने पतले उसने बन गया तो उसका बंधन भी छुट्टा बंधन है बना छोड़ो वो अपने आप को बना समझ रहा इसी तरह से कभी कभी और भी उदाहरण देते हैं लोग बात कहते हैं कि एक बार एक धोबी अपने गधे को लेकर के घाट तक गया और लेकिन उसके पैरों में बांधने वाली जो रस्सी है वो भूल खड़ी हो गई और उसने क्या किया कि गधे को सामान को सलाह दिया निकाल और उसके बाद गधे को जहाँ घास थी वहां गधे को छोड़ दिया और बस उसके पैरों के पास जाकर के हाथ से ऐसे दोनों पैरों को पता के जैसे बांधता था आगे के पैरों में रस्सी वैसे तो थोड़ा छूटा दिया उसको और उसके गधे को लगा तो उसने हमारे पैर बांध दिया और बस वो चला गया उसको बता दीजिए दोनों पैरों को अपने जोड़ करके जैसे कूदता था जोड़ करे तो कूद कूद करके कूद कूद करके तो अपने दिन में रखना चलता उसे नहीं पता लगा कि हमारे पैरों में रस्सी बंदी नहीं करती और अपने आप को बना मानता है शाम को जब धोबी ने उसको पकड़ करके उसके ऊपर लादी लादी तो लेकर के चलने लगा तो पता चली गई उनको याद आया कि चलते नहीं रहा तो बना पहने तो, तो फिर याद आया कि वो समझ रहा है कि हम पहले हैं तो धोबी ने तो नीचे झुक करके उसके पैर के तरफ से थोड़ा हाथ हाथ छोड़ाया ऐसा लगा जैसे उसने उसका पैर अंदर खोल दिया तो खोल दिया तो बड़ा समझ गया तो हाथ और फिर उसको हाथ हाथ खोल दिया और बताओ जब का बंधन सच्चा है झूठा तो जैसा उसका झूठा बंधन है वैसे जीव का बंधन भी झूठा है जैसे जगह भी मिश्रा झूठा बंधन झूठा लेकिन सूटक तत्व में मैंने ऐसा ऐसा नहीं जाते छूट जाएगा अब छूट नहीं सकते छूटने में नहीं करना अगर सच्चा बंधन में होता तो छूटने में आसान था बंधन सुन लेते जानता है कर लेता था खुल जाता है छुट्टी बात थी लेकिन जहां मिथ्या बंधन होता है उसका छूटना बड़ा मुश्किल होता है ये अपने राजदेश के कारण मैं और मेरे मेरेपन का जो पर विस्तार कर लेता है और जगत के ऊपर उसका आरोपण कर लेता है अपनी मानसिक सृष्टि का उसका नाम संसार है तो संसार हर जीव का अपना अपना है और अज्ञान के कारण जब जीव अपने बंधन में होता है अविज्ञान में होता है उस समय वो अपनी कल्पना से मैं और मेरे का राज देशात्मक संसार की रचना कर लेता है इसलिए संसार यहाँ जब आया है बिल्कुल सही शब्द प्रयोग यहाँ किया है और परिभाषा शंकराचार्य किया रखनी चाहिए कि संसार है अपने के लिए ही संसार शब्द के समान राज देश आदि संकुला ये राग देश से भरा हुआ है राग है अपने हृदय में जो राग का जो विस्तार बाल के अपने दिखाई देता है जिन वस्तुओं के साथ में व्यक्तियों के साथ में बस तो उसी का नाम संसार है सकाले सत्यवत भाती जब तक जो संसार में जीव खड़ा रहता है तब तक सत्य लगता है वैसा ही चाहिए और रोधे सत्य असंभवे जब जागता है तब वो पता चलता है वो तो मिथ्या था जैसे सपने से जागे तो पता लगता है जब सपने को मिलता था ऐसे स्वप्न भी ये ये संसार भी जीव का जागरूकता अवस्था में संसार के लिए जीव घूमता रहता है ये संसार भी उसका स्वप्न के समान मिलता है जैसे पहले का कि जब मैं पास होकर तक नहीं तो जीव का बंधन भी मिलता है और जीव का संसार भी मिलता है समस्त शास्त्र से है कि जीव का संसार समाप्त हो जीव का जो निष्ठा बंधन है वो छूटे तो भाई जीव सुखी हो जाए मुक्त हो जाए बस तो उसी के लिए सारे साथियों का प्रयास उसके साथ समस्या जो है वो जीव के साथ उसकी मित्रता बंधन और उसका मिथ्या काल्पनिक किया हुआ अपना संसार उसी संसार में जीव पड़ा हुआ जब तो जीव भरे संसारी सूर्य में ग्रंथ में हो संसारी बस वो जीव संसारी बना रहता है वो उसकी न ग्रंथ छूटती है और न कभी छुट्टी होता है संसारी बना रहता है कि नहीं जीव को विषय विषय भोग में लिप्त रहता है संसार की वस्तुओं को एकत्र करने में संग्रह करने में प्राप्त करने में भोगने में उनमें अहम भाव बढ़ाने में इसी में जीव को निरंतर लगा रहता है बस उसका बंधन बढ़ते चला जाता है बढ़ते चला जाता है तो वो छूटता नहीं और जब तक वो संसार से छूटता नहीं है तब तक सुखी नहीं होगा अब देखो जीव की अविद्या का एक विचित्र बात कि जीव अविद्या में घोषित होकर के उस का आगे बढ़ता जाता है जिधर उसका पंखी बढ़ता जाए और जहाँ उसका संसार जाल बढ़ता जाए और जहाँ उसके दुख रहते चले जाए और चले रहते जाए तुम दूसरी दुकान देखो अपने आत्मा की तरफ देखो परमात्मा की तरफ देखो संसार की तरफ मत देखो जिसे भोगने में मत लिखते हो उनका त्याग करो दोनों समझ में आ गए समझ में भी आगे तो हाँ भले हाँ, करें तो लेकिन मन माने बोले तो ये तक तो निकल जाए बस समस्या जीव बस इतनी ये कहते सूत्र में ग्रंथ में हो सुकारी कहते सूर्य प्राण ग्रंथ हो पारी अब कहते जितने के वेद है उपनिषद है जितने ये साथ हैं हजारों साथ हैं इन सबको सब क्या करते हैं ये सब इसी बात को जो जीव संसार से छुटकारा पावे जीव अपने जरिए हो है मैं उदार से छुटकारा पाए मेरे चेहरे से छुटकारा पाए जो ग्रंथ उसकी जब चेतन जी पड़ गए उसे छूट जाए सारे साथ तरह तरह की युक्तियाँ जो बताते हैं सबके साथ उसी बात को बताते हैं और प्रशासन को कहा कि जीव अपने संसारी से चक्कर को छूट जाए और मुक्त हो जाए अब छूट में आगे अधिक अधिक बढ़ जाएगी चलो लेकिन छूटता नहीं और दिनों में अधिक से अधिक परिवर्तन चला जाता है पर भी सर्दी को लगते ही चला जाता है जीव की बात नहीं संस्कार ऐसे बन जाते वही खाता है एक शरीर छूट गया दूसरे शरीर में जाए तो ऐसा नहीं शरीर छूट गया तो उसके साथ माया जाए तो छूट गया रह तो पीछे हम्म? जीव की वासना रूप रही उसकी माया जीव की उसकी वासना के रूप में होकर के जीव के साथ जाएगी और जिस शरीर में पहुंचेगा जहां जन्म लेगा जाकर के वहां उसका वही प्रार्थना खुद करने लगी ये मेरे माँ ये मेरे पिता ये मेरा परिवार ये मेरा शरीर ये मेरी वस्तुएं ये सब मेरा ये मैं ये मेरा ये मैं ये मेरा वहां जाकर के जन्म नामकर ये मैं मेरा छोटा रहता है छुटता नहीं उलझता ही रहता इस जीवन में बाल्यकाल से वृद्धावस्था तक व्यक्ति इसी संसार को अपना चलाता रहता है चलाता रहता है और कल्याण अपना बढ़ाता रहता है बढ़ाता रहता है नाना प्रकार की समस्या की लड़ाई झगड़ा मार का खाया है करती चले जाते हैं सब उनको सहन करता रहता है सारा जीवन और स्वीकार करता सूचना अधिक अधिकारी आई तो जीव हो गए तो मोर विषय की अब ये ये जो समस्या जीव की है जीव को कोई समझ आती क्योंकि जीव को इसलिए समझ नहीं आती कि मोह का अंधकार उसके होने में छाया हुआ छूट जंत छूट तुम पर देखे उसे अपने उस मोह जाल में पड़े हुए जीव को अपनी जो जंत है वो दिखाई नहीं देगी छूटे तो पास अब जीव से कहोगे देखो तुम्हारे हृदय में जंत लग गई जांच लग गई है जब चेतन के उसको खोलो तो अपने अंदर देखोगे तो उसे दिखाई देगी कहाँ ग्रंथ है किस ग्रंथ कह रहे हैं क्या चीज होती है जल चेतन क्या है उसकी जिंद कैसी है उसको पीछे दिखाई नहीं देगा जब दिखाई दे अपने भीतर की कौन सी जंग लगी हुई है जिसको यही न दिखाई दे कि संसार जाल है क्या तो संसार के आप जाल को छूटेगा क्या जिसको हृदय ग्रंथ दिखाई नहीं देगी वो हृदय ग्रंथ को खोलेगा क्या तो दिखाई देती अज्ञान के कारण दिखाई देती वही अविद्या अज्ञान अंधकार में जैसे कोई वस्तु न दिखाई दे वो समय दिखाई देती कोई बात खोलना चाहे कोई रस्सी में बात लगी हो डोरी में बात लगी हो कोई खोलना चाहे तो उसे जब खोले तो खोलने के लिए उजला बनी थी दीपक का प्रकाश हो सूर्य का प्रकाश हो तो उसे दिखाई दे कौन डेरी कहाँ कौन डूबी कहाँ गांठ कैसी है कौन सा डेरा ठीक है कौन सी मामले कब वो खुलेगा और दिखाई नहीं देगा अंधेरे में उसको चपेटे रहे कैसे तो पता लगे कहाँ खोलना था ऐसे ये जो है ये जल्दी थी सूर्य चेतन की जयंती और फिर उसके ऊपर अज्ञान और अंधकार उसमें ये गिनती दिखाई देती अगर दिखाई देती व्यक्ति को भी जैसे ये गिनती है ये जल है ये चेतन है तो व्यक्ति सावधान हो जाए बहुत कुछ ये जल शरीर में कैसे हो सकता है मैं शरीर मेरा लक्ष्मी को चेतन मैं अपने आप को चेतन अनुभव करता हूँ लेकिन शरीर के जल है पंच महाभूतों आभूषण का बना हुआ है उसमें मिट्टी से बना है जल से बना है अग्नि से बना है वायु से आकाश से महाभूतों से बना हुआ स्थूल शरीर है ये तो पंच पंचमहाभूत जड़ है तो ये शरीर को भी जड़ होना चाहिए जिस अन्न को हम खाते हैं वो जड़ है उस अन्न से बना हुआ खून मांस इत्यादि चेतन का हो जाए ये भी सब जायज होनी चाहिए हाँ, लेकिन फिर चेतन क्या लग रहा है हमको हम इन्हीं को अपना रूप क्यों मान रहे हैं हम चेतन होकर के लिए जड़ को न क्यों मान रहे हैं ये इस प्रकार की ये गिनती सुखाई पड़े दिखाई दे तो फिर उसकी छुटने तो उपाय नहीं करे जिसको उनको नहीं दिखाई दे वो तो बिल्कुल हम लोग नहीं कभी तो चेतन है और हम चेतन है बात सभी स्वयं चेतन स्वयं करता है सभी तो चेतन है सभी में जीवन है चेतन है वही चेतना में जीवन में यही सभी में ऐसा करके जो मानने वाला वो भड़क आए तो उसको जो है उसको उस ग्रंथ को खोले इसलिए वीर जीव हृदय तम लोह विशेषी और दिन को छूट दिन उपाय देखी और अब यहाँ तक की ये तो समस्या जीव की थी मैंने जो जीव है वो क्या जीव है और उसकी अविद्या कैसी हो उसका बंधन कैसा है उसका संसार कैसा है इस सब बातें जीव के संबंध में जाननी चाहिए वहाँ इतनी संख्या बताती अब ये बताते हैं कि ये अब <clears throat> ज्ञान के मार्ग के द्वारा ये समस्या कैसा है का बयान आगे ज्ञान के द्वारा तो जब तक अस समझोगे इस जब करई कदम कदा के सोने रही तो जब परमात्मा इस प्रकार का सहयोग बनाए कि तमो कदाचित सोने तब भी कदाचित साय के उगा खुल जाए निर्वरई तो मैंने खुल जाए अब कैसा साधन बने वो आगे साधन बताते हैं कि हृदय के गांव खुलने के लिए एक विशेष प्रकार के साधन की आवश्यकता है मुख्य बात तो ये है कि उसके लिए प्रकाश चाहिए वो जिला दिखाई दे तब जान अब वो जिला कैसे प्राप्त हो प्रकाश तो सपने के भीतर प्रकाश ज्ञान का प्रकाश कैसे आएगा उसका क्रम तो बताते हैं कि देखो ज्ञान का प्रकाश कैसे जैसे अंधेरा हो रात में कोई दीपक जलाओ तो दिए के प्रकाश में तो जांच करना चाहे तो खुल जाए उसको दिखाई देगा लेकिन दिए नहीं होगा अंधेरा होगा तो रात खुलेगा नहीं इसी प्रकार के जो ज्ञान का दीपक सदन जलाए जिससे कि जल चेतन की जो ग्रंथ पड़ गई उसको वो व्यक्ति को दिखाई देने लगे और उसको खोल सके तो उस प्रकाश को हृदय में प्रकाश कैसे उत्पन्न हो उसका साधन बताते हैं आप अब बस इतने रखते हैं वो साधन आप देखेंगे क्या इकट्ठा इच्छा कुर्मानुषम् कुर्मानुषम् च श्रीराम राम जय जय